ये दो लाइनों का एक शेर है और उसके बाद एक छोटी सी नज्म शेर अर्ज है कि भयानक है बहुत वक्त की तस्वीर मदन आंख नहीं मिलती जलते हुए मंजर से तो शायर का एक एटीज़ में जो जो पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट चालू हुआ और this whole idea of terrorism was pretty new to Indian continent. And he saw the ugly face of terrorism firsthand. भयानक है बहुत वक्त की तस्वीर मदन आंख नहीं मिलती जलते हुए मंजर से एक छोटी सी एक नज्म है मेरा साया दौड़ कर चलो दरवाजे बंद कर लो डीसीएम के मोटे गहरे रंगों वाले पर्दे खिड़कियों पे गिरा दो चिटखनी चढ़ा दो क्योंकि वहाँ राम रास्तों पे कुछ लोग बंदूक के लिए घूमते हैं गोलियाँ चलाते हैं कह कहे लगाते हैं आदमी चुप है माहौल इस कदर भयानक है आदमी मरते हैं आदमी चुप है यहाँ तक कि इबादत गाहों में खुदा की पनाहों में मौत मुस्कुराती है क्या कहे लगाती है आदमी चुप है बेजुबा गोलियाँ चीखती हैं ये दुनिया जैसे एक मक्तल हो दौड़ कर चलो दरवाजे बंद कर लो लगता है जैसे कोई आया है नहीं ये तो मेरा साया है एटीज़ के दशक की जो जो एक नई खोज थी टेररिज्म आतंकवाद उसके ऊपर कवि का एक रिएक्शन है एक एक दृश्य एक मंज़र एक खाका बुना है सिचुएशन पे और ये बहुत ही ऑनेस्ट बहुत ही ईमानदार कविता है इसमें कोई सिंबलिज्म नहीं है सिंपली वो लिखा है जो फील किया है कि दौड़ कर चलो दरवाजे बंद कर लो डीसीएम के मोटे डीसीएम एक कंपनी थी उस टाइम में शायद आज भी है इस they used to make this curtains and very thick curtains तो दौड़ के चलो दरवाजे बंद कर लो डीसीएम के मोटे गहरे रंगों वाले पर्दे खिड़कियों पे गिरा दो गहरे रंगों वाले क्योंकि वो लाइट कलर के जो पर्दे हैं उससे heat used to pass through दौड़ कर चलो दरवाजे बंद कर लो डीसीएम के मोटे गहरे रंगों वाले पर्दे खिड़कियों पे गिरा दो चिटखनी चढ़ा दो क्योंकि बाहर आम रास्तों पे कुछ लोग बंदूकें लिए घूमते हैं गोलियां चलाते हैं क्या कहे लगाते हैं आदमी चुप है they used to get into a bus and just shoot it out get into a school और कॉलेज स्प्रे द बुलेट्स बंदूक बंदूकें लिए घूमते हैं गोलियां चलाते हैं कह कहे लगाते हैं आदमी चुप है माहौल इस कदर भयानक है आदमी मरते हैं आदमी चुप है यहाँ तक कि इबादत गाहों में at the places of worship in the temples in the gurdwaras इबादत गाहों में खुदा की फनाहों में मौत मुस्कुराती है क्या कहे लगाती है आदमी चुप है बेजुबा गोलियां चीखती हैं ये हसी दुनिया जैसे एक मक्तल हो मक्तल is the place where they they deliver the the death penalty और एक तरह का एक बुचर खाना जहाँ पे कत्ल किया जाता है मक्तल ये दुनिया जैसे एक मकतल हो दौड़ कर चलो दरवाज़े बंद कर लो लगता है जैसे कोई आया है नहीं ये तो मेरा साया है इंसान अपने साय से भी एक तरह से घबराया हुआ है और खौफ से उसको निजात नहीं है दौड़ कर चलो दरवाज़े बंद कर लो डीसीएम के मोटे गहरे रंगों वाले पर्दे खिड़कियों पे गिरा दो चिटखनी चढ़ा दो क्योंकि बाहर आम रास्तों पे कुछ लोग बंदूकें लिए घूमते हैं गोलियां चलाते हैं क्या कहे लगाते हैं आदमी चुप है माहौल इस कदर भयानक है आदमी मरते हैं आदमी चुप है यहाँ तक कि इबादत गाहों में खुदा की पनाहों में मौत मुस्कुराती है क्या कहे लगाती है आदमी चुप है बेजुबा गोलियां चीखती हैं यह हसी दुनिया जैसे एक मकतल हो दौड़ कर चलो दरवाजे बंद कर लो लगता है जैसे कोई आया है नहीं ये तो मेरा साया है thank you very much for listening this is the work of Madan Mohalvi under the title Fikr ke Parinde you can get all these नज़म्स and their English transliteration at poems dot शुतरी dot com thanks once again